भव तनु अनुरागे पावर प्राणय गाय भागे जो प्रिय बिरह विरह देखब देख यब आगे पठये कहबलीन् पठया बरपुरपतिहतकीना लीन विधवपन अपजसुवापो लीन विधवपन अपजसयापो दिन सिंधेव प्रजहे कई कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये प्रामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया स्वयं विधवापन और अपयस लिया प्रजा को शोक और संताप दिया मोहिदीन सुखो सुजसु सुराजो कई सब कर काजो यही ते मोर काहय बने का तहि पर देन कहु तुम टीका कहके जठर जनमे जग माही यह मोहि कह कछु अनुचित नाही मोरी बात सब विधि बनाए प्रजा कत करहु सहाय और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कई कई ने सभी का काम बना दिया इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं कई कई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस तही पुण्य बेछे मार तही पियाई बारुणे कहु काह उपचार जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो ग्रस्त हों फिर जो वायु रोग से पीड़ित हों और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है कह कह सुवन जोग जग जोई चतुर दिनमोहि दिन् मोहि रामलघुभाये दिनमोहि विधि रामलघु भे तुम सब तु कहो कढावनटि का राय रजायसु सब कहनी काम उतर देव के ही विधि के ही के ही कहु सुखे न जथारुच जे कई कई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें ही कुमार तो समेत बिहाय कहु किन्ह किन् मो बिनु को सच राचरमाह जहि प्राण प्रिय प्रणप्रिय परमहानि सब कह बड़लाहु अजिन मोर नहीं दूषण काहू संशयशील प्रेम बसय हो सब ये उचित सब जो कछु कहू मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है क्योंकि आप लोग संशय शील और प्रेम के वश हैं राम मात सुठ सरल चित मो पर प्रेम से कहे सुभाय सनेह बस मोर दीनता देखी श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं